अनोशो टॉक दिया तले अंधेरा नंबर नाइन सत्य का जन्म तो व्यक्ति के अंतस्थल में होता है संप्रदाय भीड़ निर्मित करती है सत्य का सूर्य तो उगता है व्यक्ति के हृदय में सत्य के आसपास सिद्धांतों और शास्त्रों का जो कारागृह निर्मित होता है वो बनता है अफवाहों से धर्म और संप्रदाय में उतना ही फर्क है जितना सत्य और अफवाह में लेकिन लोग सुनी बातों से जीते हैं देखी बातों से नहीं तुम्हारा जीवन कान से चलता है आंख से नहीं और इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारे जीवन में सिवाय भटकन के और कुछ ना हो कान भरोसे योग्य नहीं कान देख नहीं सकता कान प्रामाणिकता का पता भी नहीं लगा सकता कान एक अर्थ में सुन तो लेता है फिर भी अंधा है और इस पृथ्वी पर इतने धर्म हैं इतने शास्त्र हैं इतनी परंपराएं वो इसी बात का प्रतीक कि लोगों ने सुन के मान लिया बिना देखे और जो सुन के मान लेगा वो जानने से वंचित रह जाएगा इसलिए हमने ऋषियों को दृष्टा कहा है तत्व के विचार को दर्शन कहा है उसका कारण ऋषि दृष्टा है अर्थात वह देखकर ही मानता है तुम ज्यादा से ज्यादा श्रोता हो तुम सुनकर मान लेते हो और जब तक तुम सुनकर मानोगे तब तक तुम उधार में ही जियोगे बासा सड़ गया ही तुम्हें मिलेगा क्योंकि ताजे को जानने के लिए तो आंख चाहिए इसलिए हम तत्व विचार को दर्शन कहते हैं वो देखने की कला है सुन तो कोई भी सकता है सुनने के कारण इतनी अड़चन पैदा होती है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है क्यों देखते तो तुम तथ्य के हो सुनते तुम सिद्धांत को हो जब तुम देखते हो फूल को कोई शब्द नहीं होता जब तुम देखते हो सुबह के उगते सूरज को तो मन मौन होता है सूरज ही उगता है तुम नहीं होते लेकिन जब तुम्हें कोई खबर देता है सूरज के उगने की फूल के सौंदर्य की तब केवल शब्द तुम्हारे पास आते शब्द बड़ी फीकी झनकार है इतनी फीकी कि जैसे तुमने स्वाद लिया हो गुड़ का मिठास जानी हो और फिर तुमने कान से सुना हो शब्द गुड़ शब्द मिठास मिठास के स्वाद में और शब्द मिठास में जितना भेद जमीन आसमान का उतना ही सुबह के उगते सूरज और सुबह के उगते सूरज की खबर में जैसे ही शब्द कहा जाता है वैसे ही विकृत हो जाता है शब्द बड़े छोटे सत्य बहुत बड़ा है जैसे ही सत्य कहा जाता है वैसे ही असत्य होना शुरू हो जाता है इसलिए लाओस ने कहा है जो कहा जा सके वो धर्म नहीं धर्म तो सदा अन कहा रह गया है धर्म तो देखा जा सकता है न सुना जा सकता न कहा जा सकता है कहना तो ऐसे ही है जैसे तुम्हें कोई नक्शा दे दे हिमालय का नक्शे से तुम क्या हिमालय को जान सकोगे कागज पर खींची आड़ी तिरछी रेखाएं और अगर नक्शे को ही तुम छाती से लगा के बैठ गए उसकी ही तुमने पूजा शुरू कर दी तो तुम हिमालय तक कभी पहुंच ही ना पाओगे हिमालय का वो सौंदर्य जो तुम्हारी आत्मा को भी गौरी शंकर के शिखर बना देता तुम्हारे जीवन में कभी भी ना उतरेगा तुम नक्शे से ही दबे रहोगे तुम अपने नक्शे को ही झाड़ते पहुंचते रहोगे धीरे धीरे तुम अपने नक्शे को सजाना भी शुरू कर दोगे तुम उसमें रंग भी भर लोगे जो सब झूठे होंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी नक्शा झूठा होता जाएगा मैंने सुना है एक घर में ऐसा हुआ छोटे छोटे बच्चे थे घर में बाप जब काफी बूढ़ा हो गया तब पैदा हुए थे उन्होंने बचपन की एक ही बात उन्हें याद थी बाप की आदत थी भोजन के बाद वो एक सीख से अपने दांत साफ कर लेता था बाप तो मर गया माँ भी मर गई बच्चे जब बड़े हुए तब उन्हें इतना ही याद रहा कि बाप एक सीख आले में रखता था जरूर उसमें कोई रहस्य होगा क्योंकि कुछ भी हो जाए सीख सदा आले में रहती थी और कुछ भी हो जाए अच्छे दिन हो कि बुरे सुबह हो कि सांझ सुख हो कि दुख भोजन के बाद बाप जरूर आले के पास जाता था इतना ही उन्हें याद रहा तो उन्होंने सोचा कि सीख तो रख लेना जरूरी बाप की सीख तो कभी की खो गई थी कूड़े कचरे में फेंक गई होगी तो उन्होंने एक चंदन की सुंदर सीख बनवा के वहां रख ली वो काफी बड़ी थी उससे दांत साफ करने का कोई संबंध ही ना रहा फिर वे और बड़े हुए फिर उन्होंने नया मकान बनाया काफी धन कमाया तो उन्होंने सोचा कि इतनी सी लकड़ी रखने से क्या फायदा बाप हमारा गरीब था इसलिए छोटे को रखता था और आला क्या हम एक मंदिर ही बनाते तो उन्होंने चौके के ठीक सामने जहां भोजन चलता था एक छोटा मंदिर बना दिया और एक बड़ा स्तंभ चंदन का खुदवा के मंदिर में बीच में लगा दिया नियम से भोजन के बाद वे हाथ झुका के सिर झुका के उस मंदिर में नमस्कार कराते थे और मैंने सुना है कि ये प्रक्रिया चल रही बच्चों के बच्चे हो गए हैं और बच्चों के बच्चे हो गए हैं अब मकान छोटा हो गया और मंदिर बहुत बड़ा हो गया पहले चौके के सामने मंदिर था मंदिर के सामने चौका है और स्तंभ रोज बड़ा होता गया है अब वो चंदन का नहीं है स्वर्ण का है और उस पर हीरे मोती जड़ दिए गए और अब पूजा बच्चे खुद नहीं करते क्योंकि पूजा जैसा कृत्य कभी भूल चूक ना हो जाए इसलिए उन्होंने किराए के पुजारी रख लिए वो जो का दांत खुजाने की सीख थी वो संप्रदाय बन गई और जब मैं ऐसा कहता हूं तो तुम ये मत सोचना कि ये कहानी ऐसा हर मंदिर में हो रहा है श्रीलंका में बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कैंडी में वहां बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है दांत खुजाने की सीख नहीं दांत ही रखा हुआ है और हजारों सैकड़ों साल से उसकी पूजा चल रही है और भक्तों ने कभी सवाल न उठाया कि दांत इतना बड़ा है आदमी का हो नहीं सकता वो तो पहली दफा एक ईसाई मिशनरी को आज से सौ साल पहले शक हुआ वो भी शक इसलिए हुआ कि वो ईसाई था कि दांत इतना बड़ा है आदमी का हो नहीं सकता तब उसने खोजबीन की तो पाया कि दांत तो किसी जानवर का है खोजबीन भी हो गई पक्का भी प्रमाण हो गया कि वो दांत आदमी का हो ही नहीं सकता अगर वो दांत बुद्ध का हो तो बुद्ध की ऊंचाई कम से कम पचास फीट होनी चाहिए तब उनका हो सकता है और या फिर इतना बड़ा होगा छह फीट के आदमी में कि वो दांत उनके जान ले लेगा तो कोई शास्त्र नहीं कहता कि बुद्ध की ऊंचाई पचास फीट थी ये पक्का हो गया कि दांत जानवर का है लेकिन पूजा अब भी चल रही है क्योंकि भक्त कहते हैं वो ईसाई है जिसने ये खोज की और ईसाई तो हमारा धर्म नष्ट करने में ही लगे ये दांत तो बुद्ध का ही है और बुद्ध कोई साधारण पुरुष थोड़ी है साधारण आदमी के दांत की लंबाई चौड़ाई से तुम उनका पता लगाओ वो असाधारण वो दिव्य वो क्या नहीं कर सकते सब चमत्कार संभव ये तो भक्तों की परीक्षा के लिए दांत रखा हुआ है श्रद्धा की कसौटी है यहाँ दांत अब भी पूजा जा रहा है हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाखों यात्री उस दांत की पूजा करते कोई भी उनमें से आंख खोल के नहीं देखता कि दांत बुद्ध का हो नहीं सकता और बुद्ध का भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है दांत की पूजा से तुम बुद्धत्व को तो प्राप्त में हो जाओगे जब बुद्ध का शरीर ही मिट्टी में खो जाता है तो दांत की पूजा से तुम कैसे बचोगे और काश दांत की पूजाओं से लोग पहुंचते होते मोक्ष तो बुद्ध ने व्यर्थ ही छह वर्ष तक तपश्चर्या और ध्यान में श्रम लगाया वो भी किसी मरे हुए पुरुष महापुरुष के दांत की पूजा कर लेते लेकिन आदमी ऐसा ही पागल श्रीनगर की एक मस्जिद में मोहम्मद का एक बाल रखा कुछ वर्षों पहले वो बाल खो गया था तो भारी उपद्रव हुआ अनेक लोग मारे गए जब तक वो बाल वापस नहीं लौटा दिया गया जब तक वो वापस नहीं आ गया तब तक महाक्रांति की हालत कश्मीर में हो गई थी कोई भी नहीं जानता वो बाल मोहम्मद का है या नहीं और मोहम्मद का भी हो तो क्या फर्क पड़ता है और आदमी ऐसा है कि भरोसा करना मुश्किल है कि असली बाल बचाओ और जो खोज लिया गया है दोबारा वो भी संदिग्ध है क्योंकि वो सिर्फ उपद्रव शांत करने के लिए खोज लिया गया हो इसकी पूरी संभावना है फिर बाल बाल में फर्क भी तो करना बहुत मुश्किल है सिद्ध कैसे करोगे कि मोहम्मद का है कि किसी और का है लेकिन मोहम्मद के बाल की पूजा से क्या होगा और मुसलमान पूजा करे तो बड़ी हैरानी मालूम होती वो कहता है हम मूर्ति भंजक मंदिरों को तोड़े मूर्तियों को मिटाए और पूजे बाल को तो फर्क क्या हुआ मूर्ति भंजक में और मूर्ति पूजक मोहम्मद की मूर्ति ना बनने देगा मोहम्मद का चित्र ना बनाने देगा अगर किसी किताब में मोहम्मद का चित्र छप जाए तो दंगे फसाद हो जाएंगे लेकिन पूजेगा बाल को तो बाल मूर्ति पूजा नहीं असल में संप्रदाय मूर्ति पूजा से बच ही नहीं सकता सिर्फ धर्म बच सकता है क्योंकि संप्रदाय के पास तो सत्य नहीं होता सिर्फ नक्शे होते हैं नक्शे यानी मूर्तियां फिर नक्शा तुम कैसा बनाते हो ये तुम पे निर्भर है कैसे रंग भरते हो ये तुम पे निर्भर है तीन सौ धर्म जमीन पर और इन तीन सौ के कम से कम तीन हजार संप्रदाय क्योंकि एक एक धर्म में अनेक संप्रदाय है कभी कोई भी नहीं सोचता कि सत्य तो एक होगा तीन सौ कैसे सत्य हो सकते परमात्मा एक होगा तीन सौ कैसे परमात्मा हो सकते फिर उन परमात्माओं के मानने वालों में भी बड़ी छोटी छोटी बातों के झगड़े और उन छोटी छोटी बातों पर जीवन की भी आहुति चढ़ाई जाती आदमी को सत्य से कोई प्रयोजन नहीं आदमी को अपने मत से प्रयोजन और अज्ञानी के मत में कितनी सत्यता हो सकती वो अफवाह से ज्यादा नहीं तुमने महावीर के संबंध में अफवाहें सुनी तुमने बुद्ध के संबंध में अफवाहें सुनी उन्हीं अफवाहों पर तुम्हारे सब शास्त्र निर्मित इसलिए तो शास्त्र बड़े असंगत मालूम पड़ते हैं जब भी कोई थोड़ा सोच विचार करेगा तो उसे बड़ी कठिनाई होती क्योंकि उनमें इतनी असंगतियां हैं जो अफवाहों में ही हो सकती हैं उनमें इतने विपरीत एक दूसरे को खंडन करने वाली धारणाएं जो कि अफवाहों में ही हो सकती और उनमें ऐसे मूर्तापूर्ण विचार हैं जो कि कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ी भी समझ है इंकार करेगा लेकिन धर्म के नाम पर सब जहरम पीने को राजी हो जाते तुम पढ़ो हिंदुओं के पुराण तो तुम उनसे ज्यादा बड़ी अफवाहें और गप निर्माण न कर सकोगे वहां बंदर समुद्र छलांग लगा जाते वहां कामातुर देवी देवताओं का वीर मछलियों के मुंह में पड़ जाता है और ऋषि मुनियों का जन्म हो जाता है वहां तुम जो भी देखोगे वह ऐसा मालूम पड़ेगा कि कोई दुख स्वप्न है कोई सत्य नहीं वहां तुम श्रेष्ठतम महापुरुषों को भी निम्नतम बातों में उलझे हुए देखोगे लेकिन तुम कभी संदेह न उठाओगे क्योंकि सदा से यह सिखाया गया है भक्त कभी संदेह न उठाए आंख बंद रखे तथ्यों को भुलाए आंख पर भरोसा न करे कान पर भरोसा करे जो भी कहा जाए वो मान ले